आप कह दें रूहुल कुदुस ने तुम्हारे रब की जनाब से हक के साथ इसको उतारा है ताकि वो ईमान वालों को साबित कदम रखे और फर्मा बरदारों के लिए हिदायत और खुशखबरी हो